जंगल बुक एक दफा का जिक्र है कि अफ्रीका के जंगल में सारे जानवर एक खास कानून के मुताबिक चलते थे वहाँ करीब में एक इंसानों की बस्ती भी थी एक रात वहाँ भूखा शेर आ गया शेर खान ने सोचा कि वो गांव वालों से अपनी भूख मिटाएगा उसने जोर की धाड़ के साथ हमला कर दिया बचाओ शेर तबाह की एक गीदड़ जो इसका साथी था उसके पीछे आ रहा था शेर खान एक आदमी को पकड़ते हुए लाल फूल पर जा गिरा और जोर से चिल्लाया रक्षा ये सब दूर से अपने बच्चों के साथ देख रही थी ये बुजदिल शेर सबसे कमजोर का शिकार कर रहा है बेचारे इंसान वो लंगड़ा है तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वो हिरन का शिकार करे लगता है इसका पैर जख्मी हो गया है शेर की धाड़ अब खत्म हो गई थी और जंगल में खामोशी थी उस दौरान भेड़िए बात ही कर रहे थे कि उन्होंने झाड़ियों को हिलते हुए देखा बाप भेड़िए ने हमला करने के लिए तैयारी कर ली इंसान का बच्चा छोटा बच्चा गांव से रेंगता हुआ भेड़ियों के पास जा पहुंचा मैं इसको अपने बच्चों की तरह पालूंगी आज से इसका नाम मोगली है रक्षा मुझे नहीं लगता कि हमारा कबीला एक इंसान के बच्चे को अपनाएगा मैं देख लूंगी तबाकी गार के पीछे से सब कुछ देख रहा था और उसने ये सारी बातें जाकर शेर खान को बताई शेर खान फौरन ही गार के पास जा पहुंचा वो इंसान का बच्चा मेरा शिकार है उसको मेरे हवाले कर दो जाओ यहाँ से डरपोक शेर वो मेरा बच्चा है उसको हाथ लगाने का सोचना भी मत शेर खान जो कि आग में गिरकर जख्मी हो गया था माँ का गुस्सा देखकर उस जगह से चला गया एक दिन ये बच्चा मेरे पंजों और दांतों के बीच में होगा अगले दिन उन्होंने मोगली को भेड़ियों के कबीले के सामने पेश किया एक लंबी बहस और बगीरा की हाँ के बाद कबीले ने मुगली को अपना लिया बगीरा और बलूस को जंगल के कानून सिखाएंगे बड़े होने के बाद इसको वापस इंसानों में जाना होगा मुगली जंगल के तौर तरीके सीखते हुए बड़ा हो गया बलू ने जंगल के सारे तौर तरीके सिखाए उसने जानवरों की जुबान भी सिखाई उसने अपनी पसंदीदा चीजें हासिल करना भी सिखाई जैसे कि शहद हासिल करना और मछली पकड़ना bagheera ने उसको अपना दिफा करना सिखाया उसको एक आदमी ने पाला था इसलिए मोगली इंसानों से मुंसलिक रहा और उसको ये समझाया कि एक दिन उसको वापस इंसानों में जाना है जल्द ही मोगली को जंगल बहुत पसंद आ गया उसको अपने भेड़िए भाइयों से बहुत प्यार मिला जल्द ही उसकी दोस्ती जंगल के सारे जानवरों से हो गई साल गुजरते गए कोकीला जो भेड़ियों की कबीले की सरदार थी पहले की तरह शिकार नहीं कर सकती थी शेर खान ने इस बात का फायदा उठाने के बारे में सोचा नौजवान भेड़ियों अब तुम्हारा वक्त है सरदार बनने का अकीला को उसके औहदे से हटा दो इंसान के बच्चे को मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारे इलाके में शिकार करूंगा और तुम लोगों के लिए एक हड्डी भी नहीं छोड़ूंगा नौजवान भेड़ियों ने अकीला को औधा छोड़ने का कहा तुम सब बुजदिल हो अगर तुम मोगली को शेर खान के हवाले कर रहे हो मैं उसी वक्त अपने ओहदे से हटूंगी अगर तुम मोगली को जाने दो बगीरा को इस मुलाकात के बारे में पता चला मोगली अब वक्त आ गया है कि शेर खान को उसकी औकात दिखाई जाए अब लड़ने का वक्त आ गया है लेकिन मैं अकेले कैसे लड़ सकता हूँ पूरा कबीला शेर खान के साथ है तुम इंसान की बस्ती से लाल फूल ले आओ लाल फूल से वो डर के भाग जाएंगे मुझे जंगल छोड़कर अपने लोगों के साथ रहना चाहिए मोगली बगीरा और बलू को गले लगाकर पहली बार रोया जल्द ही मोगली बलू के पेट पे सो गया वो सब एक दरख के नीचे सो गए बंदरों ने मोगली को देखा और उसको ले गए ये बंदर जंगल के शरारती जानवर थे जो किसी भी कानून को नहीं मानते थे जब बलू और बकीरा उठे तो उनको लगा कि मोगली जंगल की तरफ चला गया होगा बंदर मोगली को जंगल के दरख्तों के बीच से ले जा रहे थे जल्द ही उसकी नजर चिल पर पड़ी मोगली ने चिड़ियों की जबान में उसको कहा कि वो बलू और बगीरा को बताए कि ये बंदर उसको कहाँ ले जा रहे हैं रखो ये तुम्हारी कोई चलाकी है हमें सारी चलाकियाँ सीखनी है जल्दी हम इस जंगल पे हुकूमत करेंगे और हम जानवरों को काबू कर लेंगे <laughs> चिल ने बलू और बगीरा को मोगली के अगवा होने के बारे में बताया उन्होंने मोगली को एक गुफा में रखा हुआ है वो उसे जंगल के उस उजड़े हुए हिस्से में ले गए हैं ये बंदर बहुत ही चलाक और खतरनाक हैं। हम उनसे अकेले नहीं लड़ सकते हमें का से मदद मांगनी होगी उन्होंने का सांप को एतमाद में लिया और उसकी मदद मांगी तो सब खंडरात की तरफ गए बंदरों ने मोगली को एक बड़े पत्थर के पीछे छुपा दिया पहले बगीरा अंदर गया उसने बंदरों को उठाकर फेंका लेकिन जल्द वो तादाद में ज्यादा हो गए तुम लोग तालाब में छुप जाओ मैं इन पागल बंदरों को देखता हूँ बलू ने बंदरों को उठाकर फेंकना शुरू किया लेकिन वो भी इनकी तादाद का मुकाबला ना कर सका सारे बंदर उसके पेट पर चढ़कर उसको मारने लगे कार सामने आई और जोर से फुनकारा और सारे बंदर डर कर दरख्तों पे चढ़ गए ने पत्थर को तोड़ा और मोगली को छुड़ा लिया ओ वाह कितना मजेदार गोश्त है नहीं का अपने आप को बच्चे से दूर रखो का ने मोगली को छोड़ दिया फिर वो नाचना शुरू हो गया इससे सारे बंदर चक्कर खा गए और वो उन्हें ले गई मुझे लगता है कि ये जंगल मेरे लिए सही नहीं है अब मुझे इस जंगल से चले जाना चाहिए मोगली ने आखिरी बार बगीरा और बलू को खुदा हाफिज कहा और गांव की तरफ चल दिया पहले गांव वाले मोगली से डरने लगे ये बच्चा जंगल से आया है ये कोई धोखेबाज हो सकता है ये हम पर जादू कर सकता है ये तो बहुत ही मासूम बच्चा लग रहा है तुम लोग क्यों बेकार की बातें कर रहे हो आओ बच्चे तुम मेरे साथ रहोगे जल्द ही मोगली गांव की जिंदगी से वाकिफ हो गया उसने उनकी जुबान भी सीख ली उन्होंने उसको मवेशी चराने का काम दिया उसके दोस्त बगीरा और बलू उससे पहाड़ पर मिलने आया करते लेकिन एक दिन उसका भेड़िया भाई उससे मिलने आया कबीला खतरे में है शेर खान एक एक करके सारे भेड़ियों को मार रहा है तुमने तो मुझे शेर खान के हवाले करने का फैसला किया था अब मैं तुम्हारा ख्याल क्यों करूं? हमारी माँ ने हमें बराबर भाइयों की तरह पाला है हमें जरूर बदला लेना चाहिए क्या क्या माँ वो शेर खान से लड़ते हुए फौत हो गई वो घर पे तुम्हारा पूछने आया था लेकिन माँ ने कुछ नहीं बताया बहुत हो गया अब मैं शेर खान को नहीं छोड़ूंगा मोगली अपने मवेशी गहरी वादी में ले गया जहाँ शेर खान छुपा हुआ था वो एक भैंस पर चढ़ा जैसे ही वो वादी में पहुँचे अकेला भी उसके साथ आ गई जो कबीले की असल सरबरा थी तुम कुछ मवेशी दूसरी तरफ से ले आओ मैं उनको यहाँ से भगाता हुआ लाऊंगा फिर खान फंस जाएगा मंसूबे के मुताबिक उन्होंने मवेशी शेर खान की जानब भगाए पूरा इलाका उनकी दौड़ की वजह से हिलने लगा शेर खान ने उनके खुरों की धमक सुनी और भाग निकलने के लिए इधर उधर देखने लगा लेकिन उस वादी की चट्टाने सीधी थी और भागने की कोई जगह नहीं थी मवेशी गुस्से में भागते हुए आए और शेर खान को ठोकर और कुचलते हुए निकल गए बैल ने शेर खान को कीचड़ में फेंक दिया भैंस उसके ऊपर गुजर गई अब मजीद दौड़ने की जरूरत नहीं थी सब खत्म हो गया था जंगल और गांव के दुश्मन शेर खान का खात्मा हो गया था ये हु या हा हा हा। मोगली ने शेर खान की खाल उधेड़ी और भेड़ियों वाली पहाड़ी पे चला गया मोगली के कंधे पे शेर की खाल देखकर सारे भेड़ियों ने खुशी से शोर मचाया अकीला को उसकी क्यादत पे इज्जत अफजाई हुई और मोगली जंगल छोड़कर चला गया जल्द ही मोगली को पता चला कि मैसुआ उसकी असल माँ है जंगल और गांव वाले हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगे